जादूगरों ने कहा हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा हमें यकीन है कि हम लौट कर अपने परवरदिगार के पास चले जाएंगे